जीत में भी करना ये जो करना है अच्छी बात है लौटी में भी करनी चाहिए इस मंत्र का स्वयं परमात्मा का अनुचित खंड और दान है अर्थात परमेश्वर की दिशा में क्या अब परमेश्वर कैसा है इस विषय को इस मंत्र में कहा है परार्थम संदीप भाषाएं सर्वज्ञम सर्वव्यापी सनातन अनादि सच्चानंद स्वरूपम नित्य शुद्ध रूप सर्वभाव न्यायकारी जगत सृष्टि जगत हर्षि सर्वान्तर्यामी एवं निश्चय अग्नि ज्ञान स्वरूप नित्य शुद्ध न्यायकारी जगत एवं अग्नि ज्ञान और स्वयं प्रकाशित होने से अग्नि समय ग्रहण करने आदित्य तत् वह वायु अनंत भगवान और सत्ता सत्ता होने से वायु तत् वह चंद्रमा आनंद स्वरूप और आनंद कारक होने से चलना तत् एवं वही शुद्धम चिन्हकारी वह शुद्ध इसका ये अभिप्राय नहीं समझना चाहिए कि ऋषियों की बातें असत्य होती है एक सर्वज्ञ और अल्पज्ञ की तुलना जो करने लगते हैं इसलिए किया जाता है कि ईश्वर सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भूल कभी होती ही नहीं जीवात्मा एक जैसी है अग्रज्ञ है इसलिए भूल हो सकती है इस दृष्टि से विष्णु की बात को देखना होती ही है भूल ऐसा नहीं देखना क्या समझे आप प्रत्येक बात को तो करती ये सोचने लगे कि ऋषियों से भूल हो सकती है इसलिए ये भी भूल है और ये भी भूल है क्योंकि भूल हो सकती है और ये भी भूल है और ये भी भूल है क्योंकि भूल हो सकती है और वो जब जब उनके दिमाग में जो बात आए अपने दिमाग के ऋषि की बात उनकी दिखाई दे तभी वो क्या कहेगा ऋषियों से भूल हो सकती है और इसी को यदि वो यदि मान के चले तो परिणाम यह निकलेगा उसकी दुर्गति हो जाएगी इसलिए इससे ये निकालना है ईश्वर सर्व व्यापक सर्वज्ञ होने भूल होती ही नहीं जीवात्मा आत्मा एक जैसी है अल्पज्ञ है इसलिए भूल होने की संभावना है कोई कितना ही विद्वान हुआ हो आज हो आदि होगा कोई भी सर्वज्ञ में हुआ न है न आपके मन में शंका ही उभर सकती है कि पता नहीं ईश्वर है या नहीं तो आप निर्णय पा करेंगे ऋषियों के शब्द प्रमाण के निर्णय करेंगे किसी को फिर भी संदेह होने लग जाए तो फिर वेद के आधार पर और वेद के आधार पर निर्णय किए हुए मैं संदेह नहीं हो सकता तो इसलिए ध्यान देना जहां जहां संदेह होता है जहां जहां व्यक्ति को भ्रांति होती है वहां ऋषियों को अंतिम निर्णायक मानता है व्यक्ति अंतिम निर्णय ऋषियों का उसमें भी कहीं संदेह होने की शंका उभरती है कि यहां संदेह हो सकता है वहां पर अंतिम वेद और ईश्वर बस उसके पश्चात संदेह की निवृत्ति हो व्यक्ति के ज्ञान में संदेह हो जाने पर उसकी सारी क्रियाएं ढीली बढ़ जाती प्रगति रुक जाती संदेह रहित होने पर प्रगति आगे आगे बढ़ती जाती व्यक्ति पूरा बन लगाता इसलिए पत्नी महाराज ने योग के जो विघ्न है शत्रु है विरोधी है पूर्ण ने संशय को एक शत्रु गिनाया योग का शत्रु संशय और उस संशय को हम दूर नहीं करेंगे तो योग में प्रगति होगी इसलिए महर्षि ध्यान से जी ने ना पांच कसौटी लिखी बार बार देखिए इन पांच कसौटियों से प्रत्येक चीज को कस के देखो निर्णय करो और जो सर्किट है उसको मानो अस्तित्व को छोड़ो जब कभी भी ऐसी स्थिति आती है तो परीक्षण करो प्रत्येक व्यक्ति की बातों को लेकर आप परीक्षण करने लगे ऐसा नहीं कर सकते सत्यवादी सत्यमानी पक्षपात जो ऋषि हैं उनकी बात को झट प्रयोग में लाओ निर्णय कर कोई कोई कसौटी का विषय बनेगा आपका संदेह है वहां चले कोई क्षेत्र होगा बेटा इन कसौटियों की व्याख्या तृतीय मूला की तो अब वेद मंत्र में जो बात कही है उसका भाग कुछ देखिए तदेव अग्नि तद आदि एव वही एव कहते ही तदेव अग्नि वो ईश्वर अग्नि अग्नि शब्द का है ज्ञान स्वरूप ईश्वर अग्नि शब्द का अर्थ है अग्नि सबका नेता सबको मार्ग दिखाने वाला कहीं कहीं अग्नि कहीं ज्योति कहीं प्रकाश इन शब्दों का प्रयोग ईश्वर के लिए होता है और शब्दों को सुन के व्यक्ति ऐसा मानने लगता है कि ईश्वर ऐसा प्रकाश वाला है जिसे सूर्य ऐसा उसके मन में आता और आप देखेंगे कितने लोग ईश्वर के विषय में ऐसा सोचते हैं कि वो ज्योति स्वरूप है प्रकाश स्वरूप है और जैसे सूर्य प्रकाशमान दिखता है ऐसे ईश्वर देखता है ईश्वर जानने की बात क्या है कि जहां जहां प्रकाश स्वरूप ज्योति स्वरूप अग्नि स्वरूप आदि शब्दों का प्रयोग होता है वहां पर ईश्वर को अग्नि आदि से ज्योति आदि से ये समझना वो ज्ञान के लिए ज्योति शब्द का प्रयोग प्रकाश शब्द का प्रयोग है तो वो ज्ञान के इससे ये भ्रांति हट जाएगी कि ईश्वर प्रकाश स्वरूप सूर्य की मानी अच्छा ईश्वर सूर्य की बाकी प्रकाश स्वरूप हो तो सोते समय क्या होगा जी को सूर्य दोष हो जाए और फिर क्या रहेगा कैसी स्थिति होगी हाँ रात्रि होगी नहीं मतलब यदि परमात्मा ज्योति स्वरूप हो सूर्य की भांति तो रात्रि होगी क्या हाँ बताओ रात्रि तो हो नहीं सकती सूर्य सूर्य तो परमात्मा चमकने लग जाएगा क्यों होगा ही है प्रत्येक प्रमाण से खंडित हो जाएगी ये बात प्रत्येक प्रमाण से जो बात खंडित हो जाए झूठी होती है यदि परमात्मा सूर्य जैसा प्रकाशवान होता तो रात्रि नहीं होती अंधेरा ही नहीं होता और सरकार को कर देने की यह देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती रात्रि के लिए भी नहीं पड़ती लाइट लगाना जो हाई पड़ेंगे बसों में ये लगाना तेल जलाना ये भी नहीं होता प्रकाश ही प्रकाश बना रहता ठीक है इसे वेद में ये बात कही समय आखिर संसार निधन हरे ये जो संसार नहीं बना था तो में था संसार तो अब इसमें जो संकेत दिए तदेव अग्नि परमात्मा अग्नि है वायु है चंद्रमा है ये परमात्मा के गुणों को लेकर के बने ईश्वर ज्ञान स्वरूप है चंद्रमा आनंद देता है वैसे आनंद देने वाला है वायु सारे संसार का धारण करती है हम जीते हैं वायु क्या इसलिए वायु और प्रजापति सारे संसार का ईश्वर स्वामी और ध्यान देना इन कुछ शब्दों को लेकर के आप ईश्वर के विषय में निश्चिंत होकर के ध्यान कर सकते वेद ने निर्णय दे दिया ईश्वर है और ऐसा है कि संदेह की अपेक्षा आवश्यकता नहीं होती होती है तो उसको परमाणु से खंडित कर संदेह कोई ऐसी बात नहीं है कि किसी के मन में ना होता हो किसी के होता हो संदेह तो सभी के मन में होता है या नहीं होता संदेह तो सभी के मन में होता है और इसी सीमा तक संदेह ज्ञान का उत्पादक है समझा समझे आप संशय उठाते हैं परीक्षा करते हैं संशय उठाते हैं परीक्षा करते हैं और संदेह को हटाते हैं ये उसकी प्रक्रिया है अब आगे के कार्यक्रम होंगे अभिनंदन जयति ओम पर सब धार मधुरी जन

इस ध्वज को

यश अक्षय हो